का परमात्मा का स्मरण गुणों के भंडार दोष रहित प्रणव तो ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा के गुणों को संबोधन के रूप में लेते हुए परमात्मा की स्तुति हम लोग करते हैं कुछ और संबोधन कुछ और गुणों को बताने वाले आके लेते हैं तो अगला संबोधन है हे निरंजन निरंजन का अर्थ है निष्कलंक दोष रहित निर्दोष सरल लोक में एक शब्द प्रचलित है एक और शब्द जोड़ करके अनेक साधु लोग बोलते हैं अलख निरंजन ये वही निरंजन शब्द है अलख का मतलब वहां अलक्ष्य अलक्ष्य जिसको लक्षित नहीं किया जा सकता जो सीधे दिखाई नहीं देता है ऐसा वो निरंजन परमात्मा निरंजन शिव के विशेषण के लिए भी आता है शिव का नाम भी है निरंजन दोष रहित हितकारक परिपूर्ण पूर्णिमा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है निरंजना पूर्णिमा पूर्णिमा कलंक से रहित होती है न्यूनता से रहित होती है परिपूर्ण होती है इसलिए उसको भी निरंजना कहा जाता है तो परमात्मा इन गुणों से युक्त है मिथ्यात्व से रहित है निर्दोष निष्कलंक सरल मिथ्या मिथ्यात्व से रहित है इसलिए उसको निरंजन कहा जाता है आगे कहा नायक नायक का मतलब ले जाने वाला नेतृत्व करने वाला नेता जो हमें समाज को प्राणियों को दिशा निर्देश देता है आगे आगे हमें बताता है जिसके अनुसार हम चलते हैं उसे नायक कहते हैं परमात्मा ज्ञान दे करके व्यवस्था दे करके हमें नेतृत्व प्रदान करता है इसलिए वो हमारा नायक है आगे कहा नरेश नर यानी मनुष्य उनका वो ईश है उनका राजा है राजा के लिए भी नरेश शब्द का प्रयोग किया जाता है तो परमात्मा भी नरेश है हम सबका राजा है हमारी रक्षा करता है हमारी व्यवस्था करता है हमारा नियंत्रण करता है हमारे पर शासन करता है हमारा न्याय करता है इसलिए वो नरेश है आगे कहा निर्विकार परमात्मा विकार से रहित है विकार यानी विकृति उसमें कोई परिवर्तन होना बिगाड़ के रूप में स्वरूपतः परमात्मा नित्य है उसमें कोई विघटन के रूप में परिवर्तन नहीं होता दोष के रूप में परिवर्तन नहीं होता उसका नाश नहीं होता इसलिए परमात्मा को निर्विकार कहा गया और ज्ञान के स्तर पर भावना के स्तर पर भी उसमें कोई परिवर्तन बिगाड़ नहीं होता वो राग और द्वेष से रहित रहता है स्वार्थ से रहित रहता है निर्मल होता है इसलिए उसे निर्विकार शब्द से संबोधित किया गया आगे कहा हे सर्वांतरयामिन हे सबके अंदर रहते हुए अंतकरण को नियमित करने वाले नियमन करने वाले अंदर से नियंत्रण करने वाले परमात्मा हम मनुष्यों को अन्य प्राणियों को भी बाहर से नियंत्रित नहीं करता है कि हमारे हाथ पैर पकड़ करके किसी विशेष तरफ चलाए विशेष कर्म कराए बाहर से किसी कार्य में हमें रुकावट पैदा करे गलत कार्य के लिए वो बाहर से नियंत्रण करने वाला नहीं होता है तो वो अंतर्यामी होता है तो हे अंतर्यामीन अंदर से हमारा नियंत्रण करने वाले परमात्मा अंदर से कैसे नियंत्रण करता है तो हमें ज्ञान निर्देश दे करके भय शंका लज्जा पैदा करके और हमारी बुद्धि मन में सतुरस्तम की स्थिति को नियंत्रित करके अंदर से नियमन करता है हमारे कर्मानुसार हमारी बुद्धि में सत्वगुण को बढ़ा करके अथवा रज और तम गुण को बढ़ा के कम करके वो हमारा नियंत्रण करता है और अंदर वो स्थिति बदलने पर हमारी सामर्थ्य घट और बढ़ जाती है अंदर की स्थिति बदलने पर हमारी दिशा बदल जाती है धार्मिक या अधार्मिक आध्यात्मिक या सांसारिक हमारी गतियां बदल जाती हैं तो परमात्मा किसी को नियंत्रित करता है तो अंदर से नियंत्रित करता है कर्मफल के रूप में जब वो आगे हमें शरीर प्रदान करता है वो भी उसका नियमन का प्रकार है लेकिन जीवित रहते हुए हमें वो अंदर से नियमित करता है इसलिए उसको कहा सर्वांतरयामी आगे कहा सदुपदेशक परमात्मा हमें अच्छा उपदेश करता है वो अच्छा उपदेशक है सत्य का उपदेशक है वेद का उपदेश दे करके वेद मंत्रों के माध्यम से और हमारे अंतःकरण में भी बुद्धि में भी ज्ञान प्रदान करके वो हमारा उपदेशक है सदुपदेशक है आगे कहा मोक्ष प्रद मोक्ष को देने वाले परमात्मा ही हमें मोक्ष को प्रदान करता है हम अपने कर्म करते हैं कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं लेकिन मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा ही हमें कराता है हम स्वयं अपनी सामर्थ्य से मोक्ष को नहीं पा सकते हम केवल मोक्ष के लिए आवश्यक योग्यता को प्राप्त करते हैं और फिर परमात्मा हमारे पर कृपा करके मोक्ष प्रदान करता है हमें अपनी सन्निधि में अपने आनंद में रखता है जन्म मरण के बंधन से हमें एक लंबे समय तक पृथक रखता है परमात्मा ही चूंकि हमें शरीर प्रदान करता है तो शरीर के बंधन से छुड़ाता भी वही है जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता भी वही है तो वो मोक्षप्रद है आगे कहा हे सत्य गुणाकर सत्य गुणों के भंडार अच्छे गुणों के भंडार वैसे एक दृष्टि से गुण अच्छे ही होते हैं लेकिन फिर भी सत्य गुण शब्द कहा कि कुछ गुण किसी में कुछ विशेषताएं किसी में गलत भी होती हैं हानिकारक भी होती हैं जैसे कोई विष हमारे लिए घातक है उसमें यह गुण है कि वो हमारे रक्त को जमा देता है उसमें यह गुण है कि वो हमारे संवेदना तंत्र को स्थगित कर देता है ये उस वस्तु की उस द्रव्य की विशेषता है एक गुण है उसके कारण से ऐसा होता है लेकिन ये हमारे लिए अहितकर है दुर्जन व्यक्ति का भी ये गुण होता है कि वह दूसरों को हानि पहुंचाता है ये उसकी एक विशेषता है एक गुण है लेकिन वो है दुर्गुण तो चूंकि गुण दुर्गुण भी हो सकते हैं और सदगुण भी हो सकते हैं इसलिए परमात्मा के लिए कहा हे सत्य गुणाकर सत्य गुणों के भंडार आगे कहा निर्मल हे प्रभु आप मल से रहित हैं मलिनता से रहित हैं जो भौतिक मलिनताएं होती हैं हमारे वस्त्र मलिन होते हैं शरीर मलिन होता है ऐसी मलिनता तो परमात्मा के लग ही नहीं सकती क्योंकि ये मलिनता तो जड़ पदार्थों में होती है लेकिन जो ज्ञान की मलिनता है अज्ञान है मिथ्या ज्ञान है भावना की मलिनता है वो भी परमात्मा में नहीं हो सकती संसार में कहीं भी कितनी भी मलिनता हो चाहे भौतिक हो चाहे भावना के स्तर पर हो परमात्मा सर्वव्यापक रहते हुए भी निर्मल रहता है गंदी से गंदी वस्तु जो हमें गंदी दिखाई दे रही है उसमें भी वो परमात्मा रहता है सर्वव्यापक होने से लेकिन इससे परमात्मा मलिन नहीं बनता इसी तरह परमात्मा दुष्ट व्यक्तियों के शरीर में भी रहता है उनके अंतकरण में उनकी आत्मा में भी रहता है वहां भी वो व्याप्त है कितना भी दुर्भावना वाला व्यक्ति हो अति दुष्ट हो राक्षस हो उसमें रहते हुए भी परमात्मा निर्मल ही रहता है हम राग और द्वेष से ग्रसित होते हैं हमारे अंदर रहता हुआ भी परमात्मा राग और द्वेष से ग्रसित नहीं होता इसलिए वो निर्मल है आगे कहा निरीह परमात्मा अपने लिए इच्छा और चेष्टा से रहित है लोक में निरीह शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो दिनहीन अवस्था वाले हैं निरीह प्राणी जो अपनी इच्छा नहीं कर सकता इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता इच्छा को पूरा नहीं कर सकता वो निरीह प्राणी है जो चेष्टाएं नहीं कर सकता वो निरीह है वो कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता इस रूप में दुर्बलता के हीनता के अर्थ में निरीह शब्द का प्रयोग है लेकिन परमात्मा के लिए निरीह शब्द हीनता या दुर्बलता के लिए नहीं है परमात्मा अपनी इच्छाओं से रहित है अपने लिए उसकी कोई इच्छा नहीं है इसलिए वो निरीह है और परमात्मा की अपने लिए कोई चेष्टा नहीं है इसलिए वो निरीह है वैसे भी परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है इसलिए उसमें देशांतर गमन तो हो नहीं सकता उसमें गति नहीं हो सकती जिस जिसमें गति होती है वो एक देशी होता है और परमात्मा के हमारी तरह से हाथ पैर भी नहीं है कि वो कुछ उस तरह की क्रियाएं कर सके परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी अपने आप में निश्चेष्ट होते हुए भी ईक्षण मात्र से अपनी सामर्थ्य से इस संसार को बना रहा है चला रहा है लेकिन अपने आप में वो इच्छा से रहित है इसलिए परमात्मा को निरीह कहा आगे कहा निरामय आमय कहते हैं रोग को आम से जो उत्पन्न होता है अपक्व आहार से अपचन से अधिकांश रोग ऐसे ही उत्पन्न होते हैं इसलिए आमय रोग के अर्थ में रूढ़ हो चुका है तो परमात्मा निरामय है दोषों से रोग से रुजा से पीड़ा से रहित है रोग हमारे को दुख प्रदान करते हैं जो पीड़ा देते हैं रुझा देते हैं उसे रोग कहते हैं तो परमात्मा चूंकि देह से रहित है शरीर से रहित है उसमें किसी प्रकार का कोई आमय रोग नहीं होता इसलिए वो निरामय है आगे कहा निरुपद्रव उपद्रव कहते हैं जो सामान्य नियम व्यवस्था से भिन्न होता है अव्यवस्था होती है ऐसी गतिविधियां जो कि हानिकारक होती हैं उसे उपद्रव कहते हैं परमात्मा निरुपद्रव है उसके अंदर कोई उपद्रव पैदा नहीं होता और वो कहीं उपद्रव भी पैदा नहीं करता संसार में जितने उपद्रव होते हैं वो आत्माओं के अपने अपने अज्ञानता के कारण किए गए कर्म होते हैं परमात्मा कोई उपद्रव पैदा नहीं करता प्रकृति में भी जो उपद्रव दिखाई देते हैं अव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं भूस्खलन आदि दिखाई देते हैं परमात्मा उनको सीधे सीधे नहीं करता है परमात्मा ने प्रकृति में एक व्यवस्था दी है अब पर्वत का आधार यदि खिसकेगा तो ऊपर की चीजें तो नीचे गिरेंगी ही भूस्खलन होगा ही भूकंप आएंगे ही पानी अधिक बरसाए तो बाढ़ होगी ही बाढ़ आ रही है तो जमीन कटेगी मिट्टी इधर से उधर जाएगी मलबा हो सकता है किसी गांव को दबा दे ये सब जो हमें उपद्रव दिखाई देते हैं प्रकृति में ये परमात्मा साक्षात नहीं करता है परमात्मा ने प्रकृति को ऐसा बनाया यदि वहां प्रकृति के नियम वैसे होंगे तो उसके अनुसार वहां घटनाएं घटती हैं प्रकृति के भौतिकी के जो नियम है उसके अनुसार ये सारी चीजें होती रहती हैं लेकिन परमात्मा उपद्रव पैदा नहीं करता है स्वयं भी निरुपद्रव है और उपद्रव पैदा भी नहीं करता है और कोई परमात्मा में उपद्रव पैदा भी नहीं कर सकता आगे कहा दीन दया कर जो दीन व्यक्ति है क्षीण व्यक्ति है दुर्बल है उनके प्रति वो दया करता है उनके प्रति हित की भावना रखता है उनको सहारा प्रदान करता है जिसका और कोई सहारा नहीं होता उसको परमात्मा भी सहारा देता है परमात्मा तब भी उसका सहायक होता है जब वो क्षीण हो जाता है जब हम समर्थ सबल होते हैं तब तो बहुत लोग हमारे सहायक होते ही हैं समर्थन करते ही हैं लेकिन दिनहीन अवस्था में कोई कोई सहायता के लिए आता है लेकिन परमात्मा दीन अवस्था में भी हमारा सदा सहायक है तो कहा दीन दया कर दीन लोगों की के लिए दया करने वाला आगे कहा परम सुखदायक सबसे अधिक सुख देने वाला सबसे बड़ा सुख देने वाला भौतिक सुख और परमात्मा का अपना सुख मुक्ति का सुख देने वाला वो परमात्मा है तो हे परम सुखदायक तो परमात्मा के ये बहुत से गुण हमने देखे विस्तार लगभग वही उसी तरह का है जैसा हमने पहले विभिन्न संबोधनों में समझा है तद अनुरूप हम इसका विस्तार कर सकते हैं शाब्दिक रूप से जो अर्थ है वो मैंने आपके सामने रखा आप में से कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं हाँ दीनों की भी दीनों के प्रति भी दया करता है अन्यों के प्रति भी दया करता है लेकिन जो स्वयं समर्थ हैं उनको सीधे सीधे दया की आवश्यकता नहीं होती वो समर्थ होते हैं लेकिन परमात्मा दीनों की भी दया करता है दीनों के प्रति भी दया करता है और यदि व्यापक रूप से देखें तो हम सब दीन ही है आत्माएं बिना प्रकृति के बिना शरीर के दीनहीन अवस्था में ही है कुछ नहीं कर सकती वो तो परमात्मा उस अवस्था में हमारी दया हमारे प्रति दया करता है शरीर प्रदान करता है और जिन्होंने शरीर धारण कर लिया है संपन्न है समर्थ है उनकी सहायता भी परमात्मा कर्मानुसार करता ही है लेकिन जो अन्यों के द्वारा दबे कुचले हैं क्षीण हैं उनकी भी सहायता करता है परमात्मा उनके प्रति भी दया करता है और दया का भाव क्षीण व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति निर्धन व्यक्ति उनके प्रति आता है जो समाज में निचले हैं पिछड़े हुए हैं चाहे जिनकी अपनी सामर्थ्य न्यून है इसलिए अथवा समाज के अन्याय अत्याचार कुव्यवस्था के कारण से जो दिनहीन अवस्था में है परमात्मा उनके लिए भी दया करता है उनका हित करता है तो जो भूकंप जो आते तो विशेष स्थानों पर ही आते हैं भूकंप तो नहीं आते तो पर चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो तो, तो उपद्रव है भूकंप <clears throat> कुछ स्थानों पर आते हैं जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहां प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि वहां भूकंप आते हैं और जैसा कि आपने भी कहा कि भूकंप आते हैं तो उसमें सज्जन दुर्जन दोनों को हानि होती है भवन की शरीर की और सब चीजों की तो क्या परमात्मा सज्जनों को भी कष्ट देता है नहीं दे सकता परमात्मा न्यायकारी है इससे हमें यह भी पता लगता है कि ये उपद्रव ये भूकंप आदि परमात्मा स्वयं पैदा नहीं करता है लोगों का कर्म रोगों को कर्मफल देने के लिए पैदा नहीं करता है कि इस क्षेत्र के लोग दुष्ट हैं और अब यहां भूकंप लाना चाहिए और इनको मारना चाहिए इनको दंड देना चाहिए ऐसा नहीं करता है किसी स्थान पर यात्रा करने के लिए जो यात्री पहुंचे हैं उन्हीं लोगों को वहां मारना था वो सब लोग वो सब आ गए हैं और अब भूकंप को लाना है और बाढ़ या भूकंप लाना है और उनको वहां नष्ट करना है ऐसा नहीं है ये भूकंप आदि परमात्मा सोच करके कि इस समय ये लाना है और इनको ये दंड देना है इनके कर्म फल भुगाने हैं इसलिए लाता हो ऐसा नहीं समझना चाहिए भूकंप आने के बहुत सारे कारण हैं मानव कृत भी हैं और प्रकृति की स्थिति ऐसी है कि ऐसा होता है अब इसके अंतर्गत जो पीड़ित होते हैं उनके यदि कुछ पिछले कर्म बुरे होते हैं तो वो भुगे हुए मान लिए जाते हैं उनकी व्यवस्था हो जाती है और यदि किसी के ऐसे बुरे कर्म नहीं है फिर भी वो हानि होती है अति सज्जन अति धार्मिक व्यक्तियों की तो उनकी पूर्ति परमात्मा करता है वहां उसकी न्याय व्यवस्था काम करती है लेकिन ये परमात्मा स्वयं नहीं लाता है ये प्रकृति में स्वतः आते हैं स्थिति के अनुसार प्रकृति के नियम वहां काम करते रहते हैं वहां होगा ये तो हाँ परमात्मा ने जो व्यवस्था की है वो प्रकृति को उसने ऐसा बनाया है अब यदि हम पहाड़ के पेड़ काट दें और पानी बरसेगा तो मिट्टी कटेगी अधिक मिट्टी कटेगी तो जहां से कटी है तो जो आधार बना हुआ था वो हटेगा तो और मिट्टी भी आसपास की नीचे गिरेगी पानी के साथ बह के नीचे आएगी ये सब होगा अब परमात्मा ने तो जल बरसाने की व्यवस्था की है और प्रकृति का नियम भी है कि पेड़ पौधे रहेंगे तो मिट्टी को बांध के रखेंगे और भूस कटाव नहीं होगा भूस्खलन नहीं होगा और पानी एकदम नीचे बह के नहीं आएगा धीरे धीरे आएगा तो बारिश यदि तीव्र हो भी गई तो पानी जंगल में स्थिर रहता है थोड़ा बह के आता है फिर धीरे धीरे आता है वो रोक के रखते हैं पानी को अब मनुष्यों ने यदि उसको काट छांट दिया है और फिर बारिश होती है और वो कट करके आता है तो ये तो एक सामान्य नियम है व्यवस्था की गई लेकिन परमात्मा ने इस प्रयोजन से नहीं की कि नीचे ये जो व्यक्ति बैठे हैं ये पीड़ित हों इस गांव वाले इस रास्ते पे चलने वाले इस वाहन से चलने वाले उनको मुझे ये फल देना है इसलिए परमात्मा ने ये किया हो ऐसा नहीं है मनुष्यकृत भी होता है तो परमात्मा की व्यवस्था है उसका मतलब इतना ही है कि परमात्मा ने ये प्रकृति को ऐसा बनाया है अब यदि हम किसी चिकनी जगह पे असावधानी से चल रहे हैं और हम फिसलते हैं तो परमात्मा ने नहीं घेरा है हमें गड्ढे में पैर आने से हमारी कमर में झटका आ जाता है या पत्थर पे चोट लग करके हम गिर जाते हैं तो ये किसने किया है आप कहेंगे परमात्मा की व्यवस्था है कह सकते हैं परमात्मा की व्यवस्था क्योंकि परमात्मा ने ऐसा ही बनाया कि जब हम नीचे रखेंगे पैर तो झटका आएगा शरीर में शरीर को परमात्मा ने बनाया ठोकर लगेगी तो हम गिरेंगे गिरेंगे तो चोट लगेगी ये परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है लेकिन आप भी नहीं मानेंगे कि ये परमात्मा ने गिराया परमात्मा ने कमर में दर्द पैदा किया नहीं मानते ठीक है क्योंकि हम कर्म हम कर रहे हैं परमात्मा की व्यवस्था मात्र इतनी है कि अगर ऐसा होगा तो ये परिणाम आएगा लेकिन परमात्मा कोई फल देना चाहता है इसलिए कमर में दर्द पैदा किया इसलिए हमारे को झटका लगा ऐसा नहीं ये हमारी असावधानी है कि हमने ऐसा किया तो वो होगा तो ऐसे बाहर से परमात्मा फल देने के लिए नियंत्रित नहीं करता ऐसा नहीं करता है पास विराश नहीं है पूजा पाठ अपने आप में हिंसक है जो पूजा आज प्रचलित है जिस अर्थ में परमात्मा की पूजा पाठ किया जाता है परमात्मा को साकार मान के कुछ चढ़ावा दे करके अन्न पुष्प बहुत खाद्य पदार्थ इत्यादि देके फल दे करके जो किया जाता है अगरबत्ती जलाई जाती है दीपक जलाया जाता है ये जो सब पूजा पाठ किया जाता है वो निंदित अर्थ नहीं है उस संदर्भ में वो बात कही थी हम्म। है उसको पूजा लोक में प्रचलित है ना लोक में उसको पूजा कहा जाता है ना हम भाषा का प्रयोग उसी तरह करेंगे जैसा कि लोक में प्रचलित है सामने वाले उस शब्द का जैसा अर्थ समझते हैं उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही तो कोई व्यक्ति अपनी बात को रखता है सच्चे ढंग से देखें तो वो ठीक है पूजा नहीं है अगर सच्चे अर्थों में देखें लेकिन ऐसा रूढ़ हो गया लोक में ऐसा प्रचलित है इस दृष्टि से हो पाते जी स्वामी जी आपने कहा कि ईश्वर की क्षण मात्र से ये बन जाता है ईश्वर इनमें क्रिया करता है या केवल इच्छा मात्र इक्षण और साथ में मैंने सामर्थ्य भी कहा था केवल इक्षण नहीं कहा था इक्षण तो उसकी एक इच्छा है उसमें परमात्मा का सीधे सीधे वैसे प्रयत्न नहीं होता जैसे कि हम किसी वस्तु को उठा करके और बनाते हैं ईटें उठा उठा के भवन बनाते हैं ऐसे परमात्मा उन अणुओं को उठा उठा करके और जोड़ करके ये बनाता हो ऐसा नहीं करता है परमात्मा उस तरह की क्रिया नहीं वो स्वयं नहीं करता है ऐसा अब ये परमात्मा की अद्भुत सामर्थ्य है विचित्र सामर्थ्य है कि वो इक्षण करता है इच्छा करता है और उसकी सामर्थ्य से शक्ति से ये चीजें ऐसी हो जाती हैं इसीलिए इसे अपने आप क्यों कहेंगे क्योंकि परमात्मा का ईक्षण और सामर्थ्य वहां पर है आत्मा की इच्छा से भी कुछ चीजें होती हैं बाह्य वस्तुओं में तो ठीक है कि हम उठाएंगे रखेंगे तब वो होगा लेकिन जैसे ही हमने इच्छा की ये मुझे स्मरण आए तो आ जाता है हम कुछ करते थोड़ा है द्रव्यात्मक भी होता है मन में वो स्मृति आती है तो वहां बिना द्रव्यात्मक परिवर्तन के तो वो नहीं होगा अंदर तो परिवर्तन होगा इंद्रियां कार्य करने लगती हैं ये सब होने लगता है कैसे गतिविधि हो जाती है वो बिना बिना उसके भी होती है भारत तो ये भी होता है ये भी नियम काम करता है परमात्मा इनको सबको मिला करके करता हो इन्हीं की शक्ति से प्रकृति की शक्ति से ही प्रकृति के ही वेग से प्रकृति की ही गति से परमात्मा उसको वैसे व्यवस्थित कर देता है और अगर आप वैसे मानेंगे कि परमात्मा यूं कुछ शक्ति से सक्रिय होकर बनाता है तो एक अलग बात है अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि भाई परमात्मा करता होगा तो कैसे करता होगा फिर वो हमें बताना होगा परमात्मा में क्या गतिविधि होती है तो कूटस्थ नित्य है सब जगह ठहरा हुआ है व्याप्त है बिल्कुल जो का तू तो उसकी गति की व्याख्या करनी पड़ेगी कि कैसे होती है गति उसके अंदर वो कैसे गति करता है अब यूं हम लौकिक उदाहरण लें तो हमारे में गति हुए बिना हम अन्य वस्तुओं में गति नहीं कर सकते जो आप लौकिक उदाहरण की दृष्टि से वहां घटाना चाह रहे हैं कि ईंट को उठा के हमें दीवार पर रखना है ईंट चिन्नी है रोटी बनानी है तो जब तक हमारे में गति नहीं होगी तब तक वहां भी गति नहीं होगी ये नियम वहां काम करता है कोई ना कोई गति होगी हम यहां बैठे बैठे रिमोट से अगर दूरदर्शन या कंप्यूटर को चला रहे हैं यंत्र को चला रहे हैं तो वहां भी गति है हमारे अंदर भी गति है और यहां से तरंगे जा रही हैं वो गति हो रही है उसके बिना नहीं हो सकता यानी हमारे में गति हो तब हम दूसरे को गति दे सकते हैं भौतिक जगत में तो ये नियम काम करता है आप अगर उसी तरह करने लगेंगे तो परमात्मा में कौन सी गति बताएंगे जिससे कि वो ये सब बना रहा है बना दिया है चला रहा है आप परमात्मा में कोई गति नहीं बता सकते सिद्ध नहीं कर सकते गति सिद्ध करेंगे तो वो सर्वव्यापक नहीं रहेगा अंदर ही अंदर सर्वव्यापक रहते हुए गति हो रही है तो वो निरवयव नहीं रहेगा फिर सावयव हो जाएगा जैसे किसी पात्र में पानी भरा हुआ हो पूरा भरा है लेकिन अंदर पानी इधर से उधर जा रहा है एक गिलास में पानी स्थिर करके नीचे शाही की टिकिया या रंग की टिकिया रख दी जाए तो रखे रखे भी उसमें वो घुलते हुए ऊपर आने लग जाता है रंग क्यों होता है बाहर से तो कोई गति दिखाई नहीं दे रही वो उस पात्र में रखा है लेकिन अंदर गति हो रही है तो यदि परमात्मा को आप सर्वव्यापक मानते हुए फिर अंदर गति को स्वीकार करते हैं तो आप उसको निरवय नहीं कह सकते उसको आपको सवयव मानना पड़ेगा वो सिद्धांत विरुद्ध जाएगा और यदि निरवय मानते हुए परमात्मा में गति स्वीकार कर रहे हैं तो उसको सर्वव्यापक नहीं मान सकते आपको एक देशी मानना होगा और एक देशी मानते हुए भी बहुत अधिक विस्तृत तो फिर भी मानेंगे और परमात्मा की गति तो हर परमाणु में और सब जगह हो रही है इस परमाणु को इधर ला रहा है तो इस परमाणु को इधर ला रहा है इसको ऊपर ले जा रहा है तो उसको नीचे ला रहा है तभी तो इकट्ठा करेगा वो तो ये ये जो विविध प्रकार की क्रियाएं हो रही है इसको कैसे घटित करेंगे कि परमात्मा में अंदर ही अंदर इधर भी गति हो रही है इधर भी गति हो रही है अब परमात्मा में यदि इधर से इधर गति हुई है तो वहां क्या होगा जो खाली जगह बची है दूसरी जगह का ईश्वर वहां जाएगा चल के ये सब कब हो सकता है जब साव्य हो कि जल में पानी इधर से इधर आया तो बाकी दूसरा पानी वहां चला गया जैसे हवा इधर से इधर हुई तो दूसरी हवा वहां आ जाएगी स्थान घेर लेगी वायु फिर भी सब जगह बनी रहती है पानी फिर भी सब जगह बना रहता है पात्र में समुद्र में नदी में तो ये कब हो सकता है जब सावयव हो तो हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता भी स्थिर रखनी है उसकी निरवयता भी स्थिर रखनी है फिर उसको सक्रिय किस रूप में आप बता पाएंगे कि बाहर की चीजों को कार्य करते हुए हमें गति करनी पड़ती है परमात्मा में कौन सी गति ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। उस दृष्टि से परमात्मा निष्क्रिय है लेकिन फिर भी वो कर रहा है अब यही विचित्रता है जो जिसका कि उदाहरण हमें लोक में सीधे सीधे नहीं मिल सकता कोई उदाहरण ही नहीं बन सकता इसका थोड़ा हम आंशिक रूप से कुछ उदाहरण देके समझ सकते हैं तो बाहर वाली दृष्टि से तो हम नहीं कर सकते अंदर की दृष्टि से जैसे हम हम सोचते हैं और हमारा मन बुद्धि आदि कार्य करने लगते हैं हमारी इच्छा के अनुसार हमारी इंद्रियां कार्य करने लगती हैं बोलने लगते हैं अब हम क्या कर रहे हैं मैं बोल रहा हूं तो क्या कर रहा हूं इच्छा कर रहा हूं मुझे बोलना है अब गति हो रही है मैं तो ना तो ऊर्जा पैदा कर रहा हूं न मुंह को हिला रहा हूं कहा यही जाता है कि मैं मुंह को हिला रहा हूं जीप को हिला रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि अब इसको ऐसे हिलाना है ऐसे करना है ये प्रक्रिया करनी है मुझे तो नहीं पता है मैं तो केवल इच्छा की है और जीव हिल रही है और चल रही है हाथ पैर में गतिविधियां हो रही हैं कैसे हो रहा है ये हमारी शक्ति सामर्थ्य से इतने मात्र से भी होता है ये परमात्मा की व्यवस्था है प्रयत्न क्या है प्रयत्न क्या है कर्म है गुण है एक गुण है ना कर्म नहीं है ना ठीक है प्रयत्न कर लिया क्या उसके बाद में फिर इन सब में हमें पता है कि मन और इंद्रिय यहां है और ऐसे ऐसे प्रयत्न करना है वो प्रयत्न केवल एक प्रेरणा मात्र है उसके आगे हाँ अंतर है इच्छा और प्रयत्न में इच्छा के बाद में प्रयत्न होता है भिन्नता तो है पर उसके आगे क्या है क्या प्रयत्न करता है आत्मा अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है उसके अंदर बल पैदा होता है और फिर धक्का मारता है तो कैसा धक्का मारता है क्या करता है कुछ नहीं पता हम केवल इतनी जगह थोड़ा समझ सकते हैं कि परमात्मा कैसे करता होगा और तो कुछ नहीं तरीका है उसका और ठीक ठीक कहें तो उसके इस कर्म को उस निर्माण प्रक्रिया को हम पूरी तरह नहीं जान सकते हमारी बुद्धि के समझ में नहीं आता है वो जो हम लोक व्यवहार वाली बुद्धि है हमारी जिस ढंग से समझते हैं वो हमें घट ही नहीं सकता समझ ही नहीं आ सकता जैसे अन्य व्यक्तियों को ये समझ में नहीं आता है कि सब जगह होते हुए भी परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कैसे हो सकता है एक जगह एक वस्तु है इसी में परमात्मा कैसे हो सकता है क्योंकि वो मानते हैं एक जगह दूसरी चीज नहीं रह सकती जैसे उनको वो समझ में नहीं आ सकता ऐसे हमें भी ये नहीं समझ में आ सकता कि परमात्मा आखिर कैसे बना रहा है इसको बना रहा है ये समझ में आ गया उसकी बनाए बिना ये बनती नहीं है ये भी समझ में आ गया लेकिन वो कर कैसे रहा है इसका क्या उत्तर है किसी ने समझा हो तो बताओ किसी शास्त्र में लिखा हो तो बताओ अब तक पढ़ाओ कि भाई ऐसा है अथवा किसी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया हो बताइए अभी तक प्राप्त हुआ है क्या हाँ हाँ तो कपाता है ना तो कैसे कपाता है बात तो यही चल रही है दूसरे को कपा रहा है तो स्वयं स्वयं भी तो चलेगा तब दूसरे को कपाएगा अगर लौकिक व्यवहार को देखें तो यही होता है ना मुझे किसी को इस पुस्तक को कपाना है हवा करनी है मैं इसको कपा रहा हूं तो मेरा हाथ भी तो कपेगा पहले मैं अपने आप भी तो कपूंगा चलूंगा न परमात्मा में मतलब वो कैसे संभव है वो इस बात में बोल रहा था जी कौन आप पूछ रहे हैं जी ईश्वर की कोई इच्छा नहीं अपने लिए अपने तो वो औरों की हमारे लिए उसकी इच्छा होती है बिल्कुल होती है तो फिर जब उसकी इच्छा है कि सब लोग मतलब अच्छे पद पर चले हाँ। अच्छे काम करें फिर फिर उसकी इच्छा पूरी करें अच्छा <laughs> ठीक है परमात्मा की इच्छा अपने लिए नहीं होती इसलिए उसकी पूर्ति करें उसकी केवल इतनी इच्छा है कि मैं इनके हित के लिए ऐसी व्यवस्था दू उसकी ये भी इच्छा है कि मैं इनको परतंत्र नहीं रखू इनको कर्म में स्वतंत्र रखू ये भी उसकी इच्छा है इसलिए वो सबको सही रास्ते पे बिल्कुल हाथ पकड़ करके नहीं चलाता कि सब अच्छे बन जाए लेकिन उसकी इच्छा पूरी अवश्य होती है ये संसार सही रास्ते पे भटक भटक करके भी सही रास्ते पे आता है आएगा अपने अपने हिसाब फिर फिर जाएगा फिर फिर आएगा अब कितना ही मीठा खा लो बार बार रुकेगा फिर मीठा ज्यादा खाएगा फिर खाएगा फिर रोग हो जाएगा तब रुकना पड़ेगा और फिर भी खाता रहेगा दवाई भी खाता रहेगा फिर भी होता रहेगा फिर तो गुर्दे खराब हो जाएंगे नेत्र खराब हो जाएंगे हृदय खराब हो जाएगा मर जाएगा रोक दिया ना उसको नियंत्रण हर जगह पे है रोक देगा वो वो सही रास्ते पे लाने का हमेशा प्रयास करता है अधिक खा लिया तो फिर अगले समय भूख नहीं लगेगी अरुचि हो जाएगी ज्वर आ जाएगा फिर क्या करेंगे अपने आप उपवास है हम नहीं चलते तो वो उसकी व्यवस्था में जबरदस्ती वो चीजें होंगी वो करेगा अच्छा बनाने के लिए ही परमात्मा लगा हुआ है कहीं भी गलत कार्य में अति करेंगे पकड़ में आएगा दुष्ट व्यक्ति भी कितना भी करे दूसरों को पता लगी जाता है ना दुष्ट व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है दूसरों का शोषण करता है दूसरों को हानि पहुंचाता है कब तक छुप छुप के करेगा वो पता लगेगा ना दूसरों के पास भी बुद्धि है और दूसरे भी जागरूक हैं पता लग जाता है उसका खुलासा हो जाता है रुक जाता है जेल में डाला जाता है और कुछ होता है कब तक बचेगा हर जगह परमात्मा के सुधार की व्यवस्था बनी हुई है हम उससे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते और परमात्मा की इच्छा पूर्ति केवल यही है कि वो हमारे हित के लिए संसार बनाना चाहता था और संसार बना दिया ही नहीं उसने उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई वो जैसा बनाना चाहता वैसा उसने बना दिया उसका चरितार्थ हो गया इच्छा पूर्ति हो गई जितना श्रेष्ठ मानव शरीर बनाना चाहता था वो बना दिया वो कर्म की स्वतंत्रता देना चाहता था कर्म की स्वतंत्रता दे दी उसने वो न्याय व्यवस्था करना चाहता था न्याय व्यवस्था कर रहा है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता जो हमें उल्लंघन दिखाई देता है वो कर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत दिखाई देता है वास्तव में परमात्मा के न्याय का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता वो हमें मुक्ति को देना चाहता है अपना आनंद देना चाहता है देता है वो लेकिन पक्षपात रहित देना चाहता है तो वो पक्षपात रहित देता है तो परमात्मा की इच्छा तो पूर्ण पूर्ण होती ही है जैसा वो चाहता है वैसी ही होती है तो इसको अभी यहीं रखते हैं समय अधिक हो गया फिर और कर लेना शांति पाठ